और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कह देते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए हैं फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ पहुंचाई जाती है तो वो लोगों की पहुंचाई हुई तकलीफ को ऐसा समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब और अगर कभी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई मदद उन मुसलमानों के पास आ गई है तो वो जरूर ये कहेंगे कि हम तो तुम्हारे साथ थे भला क्या अल्लाह को वो बातें अच्छी तरह मालूम नहीं हैं जो सारे दुनिया जहान के लोगों के सीनों में छुपी हैं